हाय भाई मेरे मेरी तूने तनिक नहीं मानी हाय भाई मेरे मेरी तूने तनिक वतन से निकले हैं हो गद तो वहाँ भी किस्मत साथ है जो छूटा है धन परिवार सब तो निर्वाह राम के हाथ है हाय भाई मेरे मेरी तूने तनिक नहीं मारी मैंने की थी भलाई बुराई एक नहीं मानी जो कफस से बुलबुल बुल उड़ चली तो यह बोली वादे बहार न में इतना इतरा के चल जरा डर खिजा के बुखार से रह किसकी हमेशा दुनिया है आन जानी आय मेरे भाई जनिक नहीं मानी जो कल भी जो कल थी कल वह है आज गुल खिला देखो क्या गुलजार है यो ही खिलखिला के हो कल को गुलन तो बाग है न बहार है बने नाहक गुमानी कायम नहीं जिंदगानी हाय भाई मेरे मेरी तूने तनिक नहीं मानी जो वचन है राधे श्याम यह नहीं इनमें कुछ भी भूल है शुभ योजना में देरी करना मूर्खता है भूल है करूँ राघव के दर्शन मैंने यह मन में ठानी है हाय मेरे भाई मेरी तूने तनिक नहीं मानी हाय भाई मेरे मेरी तूने तनिक नहीं मानी चले विभीषण स्तर तज कर घर परिवार मन में विविध प्रकार के करते हुए विचार मुनि मन मधुकर कंज जो निर्मल ललित ललाम निर्घुंगायब प्रेम से वही चरण छवि धाम जिन चरणों का शिव सुर मुनि ध्यान लगाते हैं जिन चरणों की लीला महिमा नारद सारद नित गाते हैं जिन चरणों से कलिमल नाशन निकले गंगा की धारा है गौतम के नारी अहिल्या को जिन चरणों ने निस्तारा है जिन चरणों को अंजनी लाल आदर से देखा करते हैं जिन चरणों के पादुका की भरत श्रद्धा से पूजा करते हैं अब वह सब घड़ी आ रही है निरखूंगा उन चरणों को मैं सौभाग्य सूर्य हो रहा उदय चूमूंगा उन चरणों को मैं ऐ दिल घबराहट नला हर सत हो बेदार बेअद बे कुछ हो नहीं शौक बस खबरदार इतने में यह ख्याल आया संभव है शरण दे राघो दुश्मन का भाई समझ मुझे नजरों को फिर न ली फिर सोचा यह कुछ बात नहीं क्या काम यहाँ इन झगड़ों का राघो को मुझे प्रयोजन क्या मैं तो सेवक हूँ चरणों का उन चरणों की है आस मुझे उन चरणों को मैं पकड़ूंगा राघो पर दृष्ट उठेगी फिर पहले चरणों को मैं देखूंगा यदि चरण निभाएंगे न मुझे तो प्रभु से विनय करूंगा प्रभु ने यदि त्याग दिया तो फिर चरणों की ओट गहूँगा मैं दोनों ही यदि जाएंगे तो भी क्या मैं फिर जाऊंगा चरणों ही के सौगंध मुझे चरणों में भस्म रमाऊंगा जोगी बनकर माला लेकर बन बन में अलख जगाऊंगा चरणों से ध्यान लगा कर ही रघुनायक के गुण गाऊंगा जाऊं जाऊं राम चरण शरण में जाऊं प्रभु को ध्याऊं ही पाऊं धाऊं धाऊं खुशी से राजी से तेजी से धाऊं जोड़ू क्वर को नाऊ सर को त्यागू डर को मांगू हर को गति जानते दयालु तन मन धन की मुझे चिंता न लज्जा है राजापन की चित चढ़ी रही है छवि रघुनंदन की जाऊं जाऊं रामचरण शरण में जाऊं प्रभु को ध्याऊं शिवकाई पाऊं बढ़िया सा है इच्छा है दर्शन की घड़ी घड़ी अब है भारी चल चल दर्श दिखारी राधे श्याम खरारे रख लाज हमारी गाऊँ गाऊँ हरि के गुणों के गुणों के गानों को गाऊं जाऊं जाऊं राम चरण में जाऊं प्रभु को ध्याऊं सेवकाई पाऊं धाऊं धाऊं खुशी से राजी से तेजी से धाऊं जोड़ू कर को नाऊं सर को जाऊं जाऊं राम चरण चरण में जाऊं अपने तामस देह पर फिर कुछ आए गलाने फिर सोचा उनके निकट जाने में क्या हानि मनुआ धीरज धार प्रभु चरणों में चलिए तज कर विविध विचार प्रभु चरणों में चलिए मनुआ धीरज धार प्रभु चरणों में चलिए तज कर विविध विचार प्रभु के चरणों में चलिए पुत्र कलत्र ब्रहण और भ्राता पुत्र कलत्र ब्रहन और भ्राता जिन पर तो रहता मधमाता दो दिन का उनका है नाता सब मतलब के यार प्रभु चरणों में चलिए प्रभु चरणों में चलिए मनुआ धीरज धार प्रभु के चरणों में चलिए प्रभु के चरणों में चलिए जग जीवन है खेल तमाशा क्षण में तोला क्षण में मासा पानी का सा एक बतासा हो जाए इससे पार प्रभु चरणों में चलिए प्रभु चरणों में चलिए मनुआ धीरज धार प्रभु चरणों में चलिए तज कर विविध विचार प्रभु चरणों में चलिए दिन या रात धूप या छाया धरती या गगन प्राण या काया जिन प्रभु की है यह सब माया करुण से ही प्यार प्रभु चरणों में चलिए प्रभु चरणों में चलिए मनुआ धीरज धार प्रभु चरणों में चलिए प्रभु चरणों में चलिए राधे श्याम यही है जीवन यही जीव का अंतिम साधन हो आनंद कंद का दर्शन मिले शांति भंडार प्रभु चरणों में चलिए प्रभु चरणों में चलिए मनुआ धीरज धार मनुआ धीरज धार प्रभु चरणों में चलिए प्रभु चरणों में चलिए तज कर विविध विचार प्रभु चरणों में चलिए प्रभु चरणों में चलिए प्रभु चरणों में चलिए प्रभु चरणों में चलिए प्रभु चरणों में चलिए अस्तु अनेक प्रकार से करते हुए विचार भक्त विभीषण शीघ्र ही आए सागर पर दृष्टि बानरों की पड़ी जब इन पर तत्काल गए पास सुग्रीव के और कहा यह हाल